होता है धर्माधर्म से शरीरादि की उत्पत्ति या शरीरादि से धर्माधर्म की उत्पत्ति ये व्यवस्था हो नहीं सकती ऐसे उपसंहार कर दिया यदि हेतु फल अजातिम हेतु फला जातिम इस प्रकार से हेतु फल कार्य का हेतुत्व तो फलत्व तो भाव प्रधान निर्देश मान लो द्वेक और द्वेष नहीं गोचनी जैसे कहा ना एकत्व द्वित्व की अपेक्षा होने पर एक वचन द्वेक द्वेक में जो क्या है भाव प्रधान निर्देश है एकत्ताक्षीन पदार्थ बताने द्विताक्षीन पदार्थ बताने इसे यहाँ पर भी हेतु वाले हो यहाँ पर क्या है भाव प्रधान दृश्य हेतुत्ताचिन सगल कारण को लेना फलत्ताक्षीन सगल कार्य को लेना कोई भी कारण किसी भी कार्य से उत्पन्न हुआ है ये व्यवस्था आप देने सकता जाति मेव ख्यापयती हेतु फल में प्रवेशंती अध्यवश्यंती ऐसा ही सभी निश्चय करते हैं कारण लोग जिन लोगों ने आत्महित फल अभाव में प्रतिबद्ध ब्रह्म विदा जो ब्रह्मविद्ता लोग अपने आत्म स्वरूप में कार्य कारण के अभाव को अनुभव करते हैं ऐसे ब्रह्मविद्ताओं ने ये निश्चय कर लिया कि वे वास्तव में जो कुछ कार्य कारण भाव है ये हमारी अपनी कपोल कल्पित है वास्तव तत्व दृष्टिया ये कुछ भी नहीं है जो दिखाई दे रहा है उसकी कुछ व्यवस्था देने की एक चेष्टा मात्र किया गया है देर बाद चेष्टा विफल है जो भी व्यवस्था देते हो वो तो सारी व्यवस्था विफल ही होता है क्योंकि है नहीं जो है नहीं उसकी अवस्था देने की चर्चा कर रहे हैं हम ये वास्तविक कोई उत्पत्ति नाम की चीज होती तो उसमें कार्य कारण भाववादी का विचार किया जा सकता था और जब जवाब भी ठोस मिलेगा फिर गड़बड़ नहीं हो सकता है और आप इतने दर्शन सुनेंगे तो उतनी ही अलग अलग बात सुनने को मिल रहा है इसका मतलब यही हुआ कि भाई वास्तविक उत्पत्ति नहीं तभी तो वास्तविक उत्पत्ति हुई होती तो पक्का रहेगा ना जैसे एक लौकिक दृष्टिया विचार करके देखते हैं भाई एक बच्चा पैदा हुआ तो प्रश्न झट से उठेगा इसके माँ कौन इसके बाप कौन है आप निश्चय कहेंगे ना ये अभी थोड़ी कहेंगे कभी कह दिया इसके माँ जो है सरला है कभी कह दिया विरला है कभी कह दिया कोई और है ऐसा थोड़ी होता है सरला का बेटा तो सरला का बेटा है देवदत्त का बेटा है तो देवदत्त का बेटा है वो कभी देवदत्त का भैया किसी कोई श्रीदत्त का कहीं कहीं विष्णुदत्त का ऐसा हो जाएगा क्या ऐसा तो हो ही नहीं सकता यानी अरे वेश्या का भी बेटा पैदा हो जाए वो भी वेश एक ही का नाम लिखेगी बाप का नहीं ये थोड़ी बोलेगे वहां पर इसके दस बाप है दस बाप से एक लड़का पैदा हो गया ऐसे कभी नहीं होगा नहीं यदि हम लौकिक दृष्टिकोण से वास्तविक उत्पत्ति जहाँ मानते हैं वहां से कार्य और कारण निश्चित है अनिश्चित कभी नहीं होगा और इस जगत के कार्य कारण भाव के बारे में परस्पर द्वितियों के विवाद को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि इसका मतलब उत्पत्ति है ही नहीं वाचक उत्पत्ति होती पुत्रवत इसलिए वाचक माता पिता भी निश्चय हो जाते लेकिन जगत के माता पिता कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई परमाणु कहता है कोई गुण कहता है कोई कुछ कहता है क्या करे कोई कहता है, ही नहीं शून्यम अब ऐसी स्थिति में इसका निश्चय करना पड़ जाएगा आपको कि जिस वस्तु का पक्का कोई उत्पत्ति का कारण नहीं निश्चय हो पा रहा है ऐसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं माननी चाहिए अतः उनका कहना है विद्वान लोग ऐसी स्थिति में निश्चय कर लेते हैं आत्मा में दिखाई दे तो इस जगत का कोई एक निश्चित कार्य कारण भाव नहीं बन पाया अतः कार्य कारण भाव की व्यवस्था ही गलत है ऐसा निश्चय कर लेते हैं कार्य कारण भाव रूपी एक व्यवस्था का ही अभाव है कार्य कारण भाव रूपी एक जो व्यवस्था मानी जाती है उसी की अभाव है क्यों उत्पत्ति का ख्यापन नहीं हो पाया यावत हेतु फलावेश तावत हेतु फलोद्भव क्षीण हेतु फलावेशी नास्ती हेतु फलोद्भव पहले क्यों दिखाई दे रहा है कार्य कारण भाव लग रहा है ना अमुक से पैदा हुआ अमुक से पैदा हुआ मिट्टी से घड़ा हो रहा है या नहीं रेत से तेल नहीं निकल रहा क्यों से ही तेल निकल रहा है क्यों ये सब हो रहा है फिर कुछ तो व्यवस्था दिखाई दे रही है हमको खत ये आपके दिमाग का एक भूतावेश भूतावेश अन्याय जब तक आदमी दर रुपया हुआ रहता है ना और नशा में और उसको दुनिया दूसरी दिखती रहती है नहीं नशे में रहने वाले की दुनिया कौन समझ सकता है क्योंकि तो अपने ही गलत कार्य कारण भाव चलेगा जगत का हाँ पत्नी को बेटी कह देगा बेटी को माँ कह देगा कोई भरोसा नहीं किसे क्या बोल रहा है अब उसके वो कार्यकाल वक्त कोई व्यवस्था आप दे सकते हो या देख लो हो जाता ना कहीं ब्रेन में चोट लग गया कहीं कुछ हो गया ट्यूमर हो गया अनेक कारणों से बीमारियों से स्मृति सारी हो जाती क्या करोगे और उसकी अपनी जो व्यवस्था होगा कहते मेरे मानी अब मानना पड़ेगा वो कहेगा तो अब उसकी कार्यकाल का भाव की व्यवस्था या प्लेन जो है जो स्तर है वो अवस्था अलग हो चुकी है भिन्न अवस्था में पहुंच गया अब उसके लिए जो पहले वाले कार्य कारण भाव थी वो अब लागू नहीं हो रहा है इसलिए कहते मेरा माँ नहीं मेरा बाप नहीं मेरा कुछ नहीं कोई तो भाई नहीं इन सब पैदा ही नहीं हुआ मेरा माँ तो कोई और दुनिया तो दूसरी है उसकी अब वही भिन्न अवस्था में जब चला जाता है इस प्लेन से अगला प्लेन में जब चला गया देख लो हालत क्या हो जाता है सारी व्यवस्था बदलता ये जो बहुत बड़े पट्टा पट्टाभ्राम शास्त्री जी के साथ हुआ है बहुत बड़े विद्वान थे हमारे विमान से गुरु वही थे हम लोग क्या किया वो करपात्र जी ने हम लोग पढ़ने से पहले की बात कहानी हमारे सामने नहीं हुआ था घटना बहुत पहले उन्हें तंत्र मंत्र कर दिया क्योंकि शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया कृपा कोर्ट में हार गए कृपा गोहत्या आंदोलन को लेकर के इंदिरा गांधी के खिलाफ केस किया हमारी जो है गौ माता माँ है और देवता है इसका काटना नहीं जी ने इसके कानून बनाने के हिसाब से इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस कर दिया अब इंदिरा गांधी ढूंढ रही थी कोई ऐसा व्यक्ति है मिले दुनिया में जो कहें कि गौ देवता नहीं है गौ माँ नहीं है गौ में देवता लोग रहते ये बात अलग है गौ में तैतीस करोड़ देवताओं का वास है लेकिन गौ देवता नहीं है अब ढूंढे अब नहीं मिला ढोंग फिर भी लगा रखी थी वो केस की तारीख बढ़ा रहे हैं यहाँ पे अब ढूंढते ढूंढते कुछ लोग इनके पास पहुंचे भाई वेद के मर्मज्ञ आप है कर्मकांडी मीमांसक है आप बताइए है ऐसा कोई वेद में मंत्र जो कहता है कि गौ देवता है कहते हैं कि भाई देखो मीमांसा दर्शन शास्त्र के अनुसार जो वेद के शब्दार्थ का एक हजार न्यायों से निश्चय दे रहा है उसके अनुसार तो कहीं नहीं आया कि गौ देवता है तो देवता बच्चे का निर्णय दिया चतुर्थ्यंत होना जरूरी है यह सास देवता इस अधिकार में भी त्रितांत प्रत्यय होना जरूरी है यह कोई संबंध वर्ण साक्षात जैसे प्रतिमांत गो शब्द हो और स्वाहांत के साथ प्रयोग करके देवतावाची बन जावे ऐसा कोई हो तो अब उन्होंने करता करपात्र जी को वो श्लोक लिख करके पहले भेज दिया कोर्ट में आने से पहले ही लिख कर भेज दिया इसके आधार पर वेदे में कहीं भी कोई मंत्र हो तो आप पहले सोच लें आप जो कोर्ट में लड़ रहे हो लड़ने से पहले सोच लो नहीं तो केस वापस ले इन्होंने चित्रा वेद उपलब्ध था पटा रहा अपनी खोज छानबीन करी और उधर कार्पाल छानबीन किए जी को मिला नहीं अब उनको लग गया कि हम तो हारेंगे पक्का पहले इज्जत का सुनार बना लिया तो कोर्ट में केस लाडने बढ़े अब इधर इंदिरा को भी मिल गया व्यक्ति पट्टाभराम जी जो एक कह सकता है कोर्ट में तो प्रामाणिक व्यक्ति करे के गौ देवता नहीं है गौ को माँ करे किसी वेद में नहीं कहा गया है हमारी भावना है गलत चीज हम गंगा जी को माँ कह देते किसी को भी माँ कह सकते अरे माँ कहने में क्या दिक्कत भावना की बात है भावना गलत चीज है शास्त्रीय प्रमाण गलत चीज है भावना चाहे किसी को किसी को कुछ भी बेटी को माँ कह दोगे तो माँ हो जाएगी वो तुम्हारी भावना है ठीक है तुम मानो प्रांश परम जी ने अपने पत्नी को साक्षात काली माँ समझ के पूजा की आरती उतार दी लेकिन आज भी दुनिया में यही तो कहेंगे शारदा क्या थी पत्नी थी काली तो नहीं कहेंगे ना ठीक है उनके भावना से वो काली है उन्होंने पूजा भी किया नवरात्र किया पूरा अनुष्ठान उनको बिठा करके आरती उतार कर लेकिन उतने मात्र से आज की दुनिया थोड़ी कहेगी वो काली माँ और नंगा फोटो बना देंगे उनकी मानेंगे रामश परमांश के शिष्य लोग कभी नहीं तो इसी तर्क उन्होंने इन तर्कों को दिया और कहा कि भाई है ही नहीं वेद में कई तर्क ये भावना है ठीक है हिंदुओं की भावना है उस भावना को कदर करना चाहो तो कानून बनाओ एक गलत चीज शास्त्र के आधार पर कहा ये नहीं तब उन्होंने तंत्र मंत्र बुद्धि को भेंट कर दिया ठीक श्री यंत्र के पुजारी तो पक्का थे कृपा जी कम तो थे नहीं तो याग ही कभी नहीं किए वो तो यादों के आचार्य हो जाते थे वो भी एक सोम याग को भी हमारे सामने उन्होंने बताया था कि वो उससे पहले भी दो अश्वमेध याग को आचार्य थे और हमारे सामने एक सोम याग का आचार्य वो अपने सामने केवल तीन ही वैदिक याग किए हैं और कोई याग ही नहीं हुआ है अरे स्वयं नहीं किए आचार्य बन के बगल बैठते थे ब्रह्मा का पद पे बैठते थे क्यों बोले मैं अग्निहोत्र नहीं हूं मैं तो स्वार कर ही नहीं सकता मैं तो अध्वर्य बन नहीं सकता हूँ मैं अग्निहोत्र की रक्षा ही नहीं किया कारण क्या है लड़का है नहीं पुत्र नहीं उनका तीन बेटिया तो कैसे करेंगे याद जितने कर्म कांड के पक्का व्यक्ति याद करेंगे वो जिनके तीन बेटियां हैं पर जात पुत्रो कृष्ण केश हो अग्नि ये तो नियम है तो अग्नि आधान कर नहीं सकते कैसे करोगे याद खुद बेबुनियादी आरोप हैं उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया बहुत बाद में राजस्थान के जब वो जयपुर में संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हुए तब वहां एक लड़का उनको अच्छा लगा मंडन उसका नाम भी रख दिया था उन्होंने मंडन मिश्र वो लाल मिश्र केंद्रीय विद्यापीठ का कुलपति रिटायर्ड हुए अभी अभी इनके दत्तक पुत्र है तो वो तो करेगा सवाल ही नहीं सब छुट्टी बात है तो वहां क्या हुआ वो मंजन करते थे यहाँ टूथपेस्ट करते थे कहते थे यहाँ दांत है उसके पते पर यहाँ कर देना है कहा कर ले तेरे को पता नहीं दांत कहाँ है ज्ञान तो यहाँ है सर्व दिखता नहीं अब बताइए उस अवस्था में आप क्या कहोगे क्या कार्य कारण भाव दिखाओगे एक सामान्य व्यवस्था हम मान लिया ना दांत ये है मान लिए उस व्यवस्था पर हम कार्य कारण व्यवस्था दे रहे हैं और जिस व्यक्ति ने दांत यहाँ हो गया उसके लिए क्या कार्य कारण उसके अपने धरातल पे कोई और कार्य कारण भाव है मान उस चीज को या तो आप उस व्यवस्था में पहुंच जाए पागल होकर के तभी आप समझेंगे हाँ ये ठीक कह रहा है आप भी पागल होना पड़ेगा और संस्था पहुंचनी ही पड़ेगी या तो आप दारू पीजिए जैसे दारू पिया होगा वैसे संस्था को समझना है तो दारू पिए आप और संस्था पहुंच जाएंगे तो आप फर्क ही नहीं समझ पाओगे आप फर्क क्यों आप उस संस्था में चले गए तो इसका तो भूल ही जाओगे आप कंपेयर कैसे करोगे तभी होगा जब वापस इस अवस्था में लौटोगे तो आपको समझ में आएगा वास्तव में ये भी सच्चा नहीं वो भी सच्चा नहीं एक सामान्य अवस्था को व्यवहार कर लिखे व्यवस्था मान लिया है ये दांत है ये कान है ये आंख है अमुख है है मान के चल रहे हैं तो चल रहे इसलिए कहते हैं हाँ, कि व्यवस्था दे नहीं सकते हैं इसलिए कह रहे हैं भाष्यकार स्पष्ट ही ये पुनरेण भेद फल और अभिनिविष्टा ऐसा किंचात जो हेतु और फल भाव तो अभिनिवेश कर चुके हैं उनका क्या होगा कहते वास्तव में सब भूत आवेश न्याय से है सब सबके खोपड़े सवार कर दिया गया बचपन से डाल दिया गया है कान में ठूस ठूस के भर दिया गया तो ऐसा ही है पहले एक बार सुनाया था और विभिन्न घर वालों को बुला करके हम लोग एक गोष्ठी कर रहे थे दिल्ली में उसमें एक ईसाई अंत में हिम्मत करके सतस्त स्वीकार किया इस बात वो तो कहता है कि जब हमें वास्तव में समझ में आ जाता है ना तब तक हम वहाँ के ऐसा स्थिति में बन चुके होते हैं दूसरे समाज में मानती नहीं आज मैं हिंदू बन जाऊं क्या मेरे पत्र बच्चे सबको स्वीकार करेंगे हिंदू क्या मेरे लड़का को आप ब्राह्मण की लड़की को दोगे स्वीकार करेंगे आप फिर हम क्यों हिंदू बनेंगे हम तो मजबूरी फंसेंगे फंसे हम जान रहे हैं ईसाई धर्म गलत है ये मैं क्या कर सकता हूँ ये बच्चे में भाग गया होता घर से दो साल का बच्चा और अनाथ आश्रम में पहुंच रहे मैं अपने आप को हिंदू कहता आज मेरे को हिंदू लड़के मिल जाते हैं आपको ना कहा बात बिल्कुल सच कह रहा है आप कोई आज एक साल का बच्चा आपके सामने आ जाए आपको क्या पता है ये ईसाई की मुसलमान या हिंदू है ये जब तक आप उसके नाम जिसके कान में ठूस के भर दिया गया है वो नाम बोले माई नेम स्टीफन मेरा नाम स्टीफन है तो वह कोई ईसाई है तो क्या मेरा नाम यूसुफ अली है तो कहते मुसलमान है वो कहते मेरा नाम रामकृष्ण है तो कहते तुम हिंदू है नाम से तुम पहचान रहे हो केवल तो ड्रिलिंग कौन किया खोपड़ी में और स्थिति हो गई चालीस उम्र जब विवेक खुली तब समझ में आई ये भी झूठा वो भी झूठा बेकार हम फंस गए अगले निकल भी नहीं सकते ऐसे सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है अब हम निकल भी नहीं सकते हम चाहता भी हिंदू बनना नहीं बन सकता चाहता हूं मैं सनातनी बनू नहीं बन सकता क्या करो यही हो रखा हम लोग के साथ जन्म से लेकर अभी तक डाल दिए द्वैत सत्य है मिट्टी से घड़ा बनता है अकल में घुस गया है तो वही हट बैठा होगा कार्यकार भाव सब हमारे अंदर जबरदस्ती डाल दिया गया है जैसे भूत की पर सवार हो जाता है और जबरदस्ती कार्य कर देता है एक बार एक महात्मा ऐसे हुआ पंजाब में अभी अभी कल छह सात महीने पहले की कहानी चालीस साल का महात्मा उसने जो है अठारह साल की लड़की को जबरदस्ती कर दिया दिन दहाड़े हो गया उसके बाद जब दो दिन तक उसको पता ही नहीं जेल में पड़ गया दो दिन बाद जब जो भूत सवार था भोग करने की इच्छा वाला एक भूत प्रेत जो सवार था वो हट गया तो देखो तो मैं कहा हूँ अरे जेल में कैसे आ गया पूछताछ किया उसने जेलर गई मेरे को आप यहाँ क्यों लाए हो अरे तुमने तो ऐसे ऐसे किया मैंने किया मुश्किल फिर जो है पता लगाया फिर जांच जांच होते गया फिर पता चला कि भाई इसके तरह भूत सवार जिसकी इतनी भोग करने की उस लड़की को भोग करने की इच्छा थी और किस पर सवार हो गया नहीं कर पा रहे तो महात्मा को पकड़ लिया महात्मा पर सवार हो गया और उसके साथ कर भूत ने करके चला गया भुगत रही आदमी महात्मा अब आप क्या कार्य कारण भाव दोगे ठीक उसी प्रकार कार्य कारण भाव की ही भी एक भूत है अब कार्य कारण भाव क्या है एक भूत है जो हम सबके बुद्धि में सवार है जिसके चंगुल में ऐसा फंस गए हैं वहां से निकल अपने तो स्वरूप का अनुभव हम नहीं कर पाते यावत फलावेश इसे जब तक हेतु और फल भाव का आवेश है भूत जैसे आवेश कर गया और अभिभूत करके जो है आपका सब कुछ काम करा देता है अगर ऐसे जगह स्कूल के समय के बाद छठी कक्षा में थे जब वह दोस्त पर सवार हो गया भूत और इतना प्यासा था वो भूत पानी पीते गया पीते गया पीते गया आश्चर्य कर कहा जा रहा है सब पानी किधर ग्यारह बारह साल का बच्चा पच्चीस लीटर पानी पी गया और कोई फर्क नहीं उस बच्चे ने तो छोड़ दिया उसको उसके उसको ग्लास एक गिलास पानी पिया नहीं गया जैसे पच्चीस लीटर पानी पिया एक गिलास पानी नहीं पी पा रहा पीते पीते थक गया था वो पिया किसी ने और ने उसके पेट के द्वारा तो बेहोसा हो गया हो होश में लाया गया फिर खिलाया पिलाया तो खाया पिया फिर कहता है लोगों ने हम लोगों ने सबने कहा तू तो इतना प्याने पी गया माँ के लोगों ने कहा तो क्या हो गया तो तेरे को भाई ये कौन सी बीमारी है ये ये कैसी बीमारी है जो आधे पच्चीस लीटर पानी पी जाए और फिर भूखा रंगा ये क्या हो गया तब फिर उसके माता पिता ने बताया कि इसको भूत सवार होता वो कभी आ, कभी कभी आ जाता है दस बारह साल में एक पर उन्होंने बताया बहुत जन्म से दो तीन महीना का बच्चा तो उस समय ऐसे ही इसका साथ हुआ हम लोग ने सोचा पता नहीं क्या हो गया अस्पताल में ग्लूकोज दिए जा रहे ग्लूकोज दिए जा रहे बच्चे को उस समय तक सोलह बोतल एक लीटर की पिला दिया गया था उस बच्चे को फिर बच्चे को सोलह बोतल ग्लूकोज देने तो क्या होगा सारा खून पानी हो जाएगा डॉक्टरों हैरान रह गए और उसको खोलते तो चलाते हैं मरने के लिए जिस हालत हो जाता है देते हुए सर डॉक्टर जो होगा सो देखा जाएगा मरने दो बच्चे को लेकिन सोलह लीटर के बाद वो पे छोड़ दिया तुम तो बस ग्लूकोज गया नहीं अंतर में अब ठीक है बच्चा फिर करते वो दस साल बाद अब यह घटना अब पच्चीस लीटर पी गया को ध्यान था बचपन ऐसे घटना हुई थी इसलिए उन्होंने बता दिया तो समझ में आ गई भूतावेश ये तो तो उसी दृष्टि दृष्टिकांत को लेकर के भूतावेश न्याय को लेकर के यहाँ कहा जा रहा है कि भाई यावत फल आवेश तावत हेतु फल तावत पर्यत हम लोग की बुद्धि कार्य भाव को लेकर सारी व्यवहार करती रहेगी क्षीणी हेतु फलावेश है जैसे हेतु फल का जो आवेश हम लोग की बुद्धि पर सवार है वो जिस क्षण क्षीण हो जाए तब तो आप कहोगे कार्य कारण भाव कोई उत्पन्न ही नहीं था नास्ते तो फलोद्भव कार्य कारण की व्यवस्था ही उत्पन्न नहीं है यही निश्चय होता है ये पुनर्हित फल और अभिनिष्ठा जो हेतु फल में अभिनिवेश करवाए हुए हैं उनका क्या होगा उनकी व्यवस्था क्या होगा उनका क्या जवाब है तब कहते बात ऐसा धर्माधर्माक्ष हेतु हो धर्माधर्म नामक कारण है जिसको लेकर व्यक्ति क्या बोलता है अहंकर्ता मम धर्माधर्म तत्फलम च कालांतर क्वचित प्राणी निकाय जातो भोक्ष्य और उसका फल पुनः कालांतर में जाकर के किसी न किसी योनि में जन्म लेगा हाथी घोड़ा मनुष्य आदि और वहां पर जाने के बाद मैं इस धर्माधर्म का फल को भोगूंगा भोक्ष्य अहम करता मम धर्माधर्मोस्ती तत्फल कालांतर क्वचित प्राणी निकाय गत्ता जातो जात सम भोक्ष्य किसने किसी प्राणी निकाय का मतलब क्या कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा हाथी आदमी औरत पुरुष कुछ न कुछ बन करके में जन्म लेकर के जाता सन भोक्ष है इस धर्माधर्म को भोगूंगा इत्याकार फल आवेश इस प्रकार का कार्य कारण भाव का हमारे बुद्धियों में आरूढ़ होकर बैठा हुआ है ऐसा आवेश ये जिस आवेश को तोड़ने के लिए हम लोग अनेकों जन्मों से प्रयास कर रहे हैं अनेक जन्म कहना पड़ता है वो भी सब आवेश ही है ये भी सब आवेश मात्र ही हम लोगों के ऊपर हेतु फल आग्रह आत्मनि ये जो हेतु फल का आग्रह भी कहा है अपनी आत्म आरोप कर बैठे हुए हैं तत्चित्तता इत्यर्थ कहना ये अमुक कारण है अमुक कार्य इत्यागर वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को लेकर के हम अपने आप को तद्वान मान लिए हैं तावत जब तक याद ये रहेगा याद परिंदे स्थिति है तावत पर्यंत तो फल उद्भव धर्म फल अनुच्छेद प्रवृत्त तब तक जाकर क्या होता है धर्म धर्म एवं उसके कार्य जो फल है इनका परस्पर जो धारा के समान अनुच्छेद उच्छेद के बिना अटूट धारा चलती आती है जिसके कारण हम क्या बोल देते अनादि कह अनुच्छेदन प्रवृत्ति निरंतर प्रवृत्ति धारा प्रवृत्ति करता यदा पुनर्मंत्र औषधि वीरण ग्रहावेश भूत प्रेत बालक ग्रह या ये राहु केतु शनि आदि ग्रह आवेश हो जाते हैं तो क्या करते हैं आप मंत्र प्रयोग कर देते हैं औषधियों का प्रयोग कर देते हैं और वीरियन व अन्य तपाल सामर्थ्य तपस्या व्रत आदि सामर्थ्य से अब क्या करते हैं उस ग्रहावेश को भंग कर देते हैं तब उस ग्रहावेश के कारण से जो स्वीकृत सकल वाक्या हो जाता है दूर हो जाता है ठीक उसी प्रकार से यदा पुनः मंत्र औषधि वीर ग्रहेश यथोक्ता यथोक्त अद्वैत दर्शन और यह साधन क्या हमारे पास मंत्र औषधि वीर से नहीं होएगा यहाँ तो अद्वैत दर्शन यथार्थ ज्ञान से यह काय कारण भाव की धारा रूपी जो भ्रांति है वो निवृत्त हो सकती है इसलिए कहते हैं थोक्त अद्वैत दर्शन अविद्योत भूत हित फलावेश अविद्या चेत भरा द्वेश है तो भवती वह नष्ट होकर हट जाता है यदा ऐसा हो जाता है तदा तस्मिन क्षीणे तस्मिन क्षीणे एक हेतु फल भाव का क्षीण हो जाने पर नास्तित फलोद्भव आपका निश्चय होगा वास्तव में हेतु फलोत्पत्ति व्यवस्था ही नहीं जो कुछ विताम नहीं था बे मतलब उसमें चित्र चल पड़ा था ना आदिकाल से कार्य कारण भाव का चित्र जन्म पुनर्जन्म का चित्र अनायका से चला आया हुआ है बेमतलब नॉन स्टॉप सीरियल है ये जब टीवी से भी शब्द बंद हो जाते हैं कुछ घंटों बाद नहीं वो भी रेस्ट ले लेते हैं लेने रेस्टलेस चला हुआ है बिना विश्राम के सूर्य चलते रहता है तो उसको एक दिन का हॉलीडे क्या एक मिनट एक सेकंड का हॉलीडे नहीं मिलता है बेचारे ग्रहण काल में भी चलते रहता है भले हमें नहीं दिखाई देता वो बात अलग चीज है ये ना समझे अब ग्रहण हो गया तो सूर्य शांत बैठ गया है नहीं नहीं वो तब भी चल रहा है राहु के साथ राहु उसके ऊपर बैठा हुआ है और साथ साथ उसको चला रहा है दोनों चल रहे हैं साथ साथ बंद होकर तो इसीलिए उसी प्रकार यहाँ पर भी कहता अनाधिकार से चला हुआ चीज जैसे विज्ञान होगा अद्वित दर्शन होगा तब क्षण आप कहोगे कि वास्तव में थी नहीं या बद्धे तो फलावेश संसारस्तावदायत क्षीणे हे तो फलावेश संसार न प्रबद्यते जब तक आपको आला चक्र का आवेश बना हुआ है तावत पर्यंत चक्र के जो है प्रवृत्ति का भी आवेश रहता है निरंतर चल रहा है लगातार चल रहा है बढ़ रहा है घट रहा है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है रिच हो गया वक्र हो गया अनेक प्रकार से जो आप उसी चीज को जो देखते ही जाते हैं जैसे ही वह आवेश दूर हो जाता है आप क्या देखेंगे वो तो भाई किनारा चलता है छोटा सा आग का चक्र नहीं वो छोटा सा आग का गोला है तो बाद में समझ में आती उसी प्रकार से ये हित तो फलावेश जब तक कार्य कारण भाव का आवेश है तावत परिंद संसार आयत यह संसार या बिल विस्तार को प्राप्त जितना आप देखना चाहो संसार को देखते जाओ कोई अंत नहीं कोई अंत नहीं आप खोज करना चालू कीजिए किसी चीज की तो पता चलेगा आपको सारा जिंदगी लग जाएगा उसका अंत नहीं पाओगे अच्छा नहीं पा अंत में थक के हार के पीछे हटोगे गए हाँ? क्यों नहीं है हाँ। पुराणों में मिलेगा पुराणों में वर्णन है अमुक देश का राजा था अमुक देश के राजा थे नहीं आया महागर युद्ध का प्रसंग लीजिए कितने राजा इकट्ठा हुए थे युद्ध में वर्णन है हाँ छोटे छोटे देश थे उस समय उस समय अमेरिका तो थे ही नहीं एक ही भारत अखंड भारत सारा पृथ्वी का एक राजा होता था पूरी पृथ्वी का नाम भारत उसके बाद में ही जाकर टूटते टूटते टूटते जैसा ने क्या कर दिया कुछ क्षेत्रों पर ययाति का प्रसंग में आता है देख लीजिए ययाति जो है ना भाई कमजोरी आते गई दिमाग में कमजोरी आते गई ना आदमी की क्षमता में कमजोरी जैसा भी कुछ दिन पहले बता रहा था कि टिप्पू सुल्तान दोनों हाथ सत्तर किलो की तलवार उठा के लड़ता था और आज दोनों हाथ से हम सत्तर किलो की तलवार उठा नहीं सकते एक तलवार एक हाथ से क्या उठाओगे चलाओगे यही देखते देखते छह सौ साल हुए नहीं इतनी क्षीणता गई है तो समय क्षीण होते होते क्या हुआ पूरे पृथ्वी राज्य जब नहीं कर पा रहे थे जितनी सामर्थ्य उतना दूर की खबर लेता था राजा कंट्रोल करता था अगर तो वैसा इतनी देखभाल करेंगे हमारी बस की बात इतनी है उतरा देखता था उसके बाहर का ये भारत नहीं है बस छोड़ दिया जब यवन की बात आई ययाति ने यवन को अपने देश से बहिष्कृत कर दिया आया है ना कहानी ययाति ने अपने बुढ़ापा के जगह पर जवानी जब मांगा पुत्रों से वो जब नहीं दिए तो यवन नाम का बेटे को उन्होंने देश से बाहर कर दिया आया कि नहीं है वही देश यवन देश हो गया वो जहाँ गया उसने अपना अधिकार संभाली लिया वहां के लोगों की अपेक्षा से ज्यादा प्रभुत्व सामर्थ्य वाला था ही हुआ उसने अपना अड्डा जमाया अपना झंडा गाड़ा उसने कहा मेरा देश है मेरे अनुसार चलेंगे ये कानून मैं बनाऊंगा और बाप के खिलाफ हो चला बाप था सनातनी यहाँ और सनातन धर्म के विरुद्ध धर्म को उसने किंचित जो है हेरा फेरी करता हुआ यवन देश में आरंभ किया जिसको आप मिलच्छ देश कहते हैं आज भी उसका नाम यूनान है वो यवन का अपभ्रंश होके यूनान हो गया और यूनान सब क्या कहते हैं युगांडा युगांडा करके बोलते हैं तो वो देश वो से फिर ऐसे वो भी विरोध दे गया ऐसे करते करते आज जो है आप देख रहे हैं अब इतिहास को देख लो तो बाद के बाद क्या सौ साल के अंदर क्या क्या घटना घट गई कहा तक थी आपकी भारत अफगानिस्तान तक था जब अलक्षेंद्र का जो आगमन हुआ है तक्षशिला कहाँ है वहां पर है अफगानिस्तान के आज मैंने भारत वहां तक थी चाणक्य के समय का भारत के विचार करके देख लो आप और आज कहा है आज भारत कितनी आ गई बेचारे बुढ़िया गई है दुबली बदली हो रही है जब तो मोटी थी नहीं धीरे धीरे पतली होती गई होती होती होती आप बहुत पतली हो गई इधर से कट गया उधर से कट के चार तरह से अब पता नहीं अंत में रहेगी कि नहीं रह जाएगी ये तो चक्र है काल चक्र में सब व्यवस्था होते जाता है इसलिए का एक अखंड भारत का पूरा पृथ्वी का दोहन किया आता ही नहीं आता पृथ्वी नामक राजा ने पूरी धरती का ध्वन करके विभिन्न प्रकार की चीजों को उत्पन्न करने के लिए भगवान की प्रेरणा से सारे कार्य किया तो सारा पृथ्वी एक थी उसका राजा एक और वास्तविक नाम क्या था पुराणों के हिसाब से इसका असली पूरे पृथ्वी का नाम जो एक राजा के नाम से था एक राज्य के रूप में जो राष्ट्र के रूप में नाम जो था उसका नाम अजनाभ था बाद में भारत था जब भारत राजा हुए उसके बाद उसका नाम भारत पड़ा है तो उसे पहले क्या नाम था पहले इसका नाम अजनाभ बताया गया पुराणों में अब पुराणों के गहरा अध्ययन कीजिए तो पता चलता है हमारे इतिहास क्या है वास्तव में अगर लगे यहाँ भी स्कूलों में भर दिया ना वो नकली इतिहास और वही पढ़ करके उल्टा उल्टा आदमी सोचता है वास्तविक इतिहास से तो हम बहुत दूर है अब आज उस बात को मानने को कौन तैयार होगा जबकि सब जानते हैं पाकिस्तान भारत का अभिन्न अंग है कोई अलग देश थोड़ी है वो हमारा ही अंग है वैसे तो विचार करो तो अफगानिस्तान भी हमारे ही अंगे अरब भी हमारे अंदर रेगिस्तान हमारे वर्णन जो आया हुआ है वो उस जमाने से था वो कृष्ण की अष्टपत्रियों में से एक पत्र उस क्षेत्र की है वो वर्णन आया हुआ है क्योंकि जो बुल फाइट है ना नाग्न जीती जो कृष्ण के पत्नियों में से एक पत्र का नाम नाग्न जीती है अष्ट पत्नियों में से एक जो कि सांड का सात सांड थे उनको नत्थी बांध करके जो उसके ऊपर के जो सोना लगा हुआ को ले लेता है वही हमारी बेटी का विवाह कर सकता है ये था और आज भी bull fight where it is famous विदेश में स्पेन में स्पेन उस समय कहा था पूरे रेगिस्तान के क्षेत्र में वहां से आया ये सांडो गरीब आज भी वहां का राज खेलों में से सरकार मानता है अंतर्राष्ट्रीय खेलों में से एक खेल है वह होगा हमें नहीं पता लेकिन जो हम बता रहे हैं एक ऐतिहासिक कथा देखो अभी कल हुआ है बोल रहे हो आप तो वहाँ के राष्ट्रीय खेलों में उसकी गिनती है हमारे राष्ट्रीय खेलों में नहीं है ये यहाँ नहीं है राष्ट्रीय खेलों में वो चीज वहां मानी गई हमारे राष्ट्र का खेल क्या है मुख्य शतरंज यहाँ के पैदाइश मानते हैं तो इसका मतलब क्या कृष्ण वहां गए थे वहां से जीत करके नागरिक जीत को लाए थे तो हमारे भारत वहां तक थी और खोजोगे तो पता चले पूरा विश्व ही एक बार जो आज इतने देश बट गया एवरीथिंग हाँ, तो एक था वो तो बाद में सब इतिहास को खोजोगे तो खोजते जाओ पता चलेगा असलियत है क्या है ये सब वर्णन है ऐसी बात नहीं है जब खोजे नहीं हम लोग और उसके फिर उसको लेकर हमारे पाठ्यक्रम में नहीं डाला गया समस्या है पाठ्यक्रम दूषित है वास्तविक हमारे देश की संस्कृति हमारे देश के इतिहास हमारे देश का विज्ञान हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है अंग्रेजों का मृक्षों का चीज हम पढ़ रहे हैं और डिग्री पास कर लेते हैं और वही विद्या के कारण हम अपने चार को सब भूल रहे हम सोच रहे हम तो कुछ भी नहीं है उसे कुछ वो महान है तो चोर को महान मान लिया आपने तो चोर है सब यहाँ को चुरा करके उल्टा हमारे पर डाल कर करेंगे हम महान और आप लोग भी चोरों को महान मान के पूछ रहे हो जो विज्ञान को मान रहा है वो वास्तव में चोरों को ज्ञान का सम्मान कर रहा है और जो सनातन धर्म को मानते हैं वही अपना ज्ञान को मान रहा है वितरण का कहना यावत आवेश है तावत पर संसार का विस्तार है क्षीण हेतु फलावेश जैसे कि हेतु फलावेश क्षीण हो जाता है संसार हम न प्रबद्ध दे फिर संसार की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है भाषकार कहते हैं यदि हेतु फलोद तथा को दोष यदि हेतु फल की <clears throat> परंपरा जो उत्पन्न हमें है वो रहने दो उसे क्या दोष होगा तब कहते हैं यावत सम्यक दर्शन हेतु फलावेश न निवर्तते अक्षीण जब तक हेतु फलादेश को सम्यक दर्शन के द्वारा नष्ट नहीं करोगे जब तक वो रहेगा तब तक क्या होगा संसार तावत आय दीर्घ भवती विस्तार भवती तावत क्या होते रहेगा यह संसार आपके लिए विस्तार होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा कोई अंत नहीं कल कुछ विदेशी आए वो खोज कर रहा है पिछले सोलह साल से भोजपत्र पर लिखा हो भृगु संहिता भविष्यवाणी कथन करने वाली लिखित भोज पत्र पर लिखित हो हाँ, हमको सुनकर इतना आश्चर्य आपको भी आश्चर्य होगा उसको सबसे पहले यदि का भोज पत्र मिला है और सबसे अधिक मात्रा मिला है तो जर्मनी में मिला अब हाँ, आश्चर्य हो गए हमारे भारत देश के अंदर उसने मुझे एड्रेस कर लिखाया सात जगहों में है हमें ना मालूम नहीं है हम लोगों को उसने खोजा है सात जगहों में आज भी विद्यमान है भृगु संहिता इन सब अधूरी है और कहता है जर्मनी में जो वो भी अधूरी है क्यों क्योंकि वहां जितनी चीज थी उससे भले कम मात्रा में यहाँ है लेकिन वहां जो नहीं है वो यहाँ है इसलिए मानना पड़ेगा वो भी अधूरी है वो खोज छानबीन में लगा हुआ है अब कह रहा था हमें पता चला है कि कंबोडिया में एक जगह है वो यहाँ से कंबोडिया जा रहा है सोलह साल बीत गया जांचते जांचते वो छोड़ नहीं रहा है कहते मैं जिंदगी भर इसमें लगाऊंगा जितनी हो सकता है इसका खोज उसके लिए वो संसार का विस्तार होते जा रहा है एक मिला फिर अगला मिल रहा है अगला का पता चल रहा है अगला का प्रभाव भागेगा और वहाँ कितनी उसको जंजाल करनी पड़ेगी इतना आसानी से थोड़ी बता देंगे लोग वहाँ जाएगा वहाँ रहेगा चमचागिरी करेगा किसका चेला बनेगा किसका कुछ बनेगा किसको पैसा खिलाएगा क्या क्या नहीं करना पड़ता बता रहा था हमको इतना पापड़ बेलना पड़ता है एक चीज को कहीं से निकलवाने की दो दो साल डेढ़ डेढ़ साल एक जगह लगाता है तब जाकर उसको बाद पूरी खुलिया पता लगता है इतना आसान नहीं चीज है जानने संसार को खोजना और खोजते जाओ तो कोई अंत ही नहीं आपके लिए वह संसार विस्तार होते जाता है वो भी अधूरा वो भी अधूरा माया एक और को बता देगी और अगली जगह एक और को बता देगी माया वहां जाओ वहां जाओ काटते करते मर जाएगा आदमी पूरा होगा नहीं उसका इसलिए कहते यहाँ संसार आज तो भवती दीर्घो भवती कहा क्षीणे पुनर्हित फलावेश और कुछ भी सब झूठा करके किनारे बैठ जाओ आत्मदर्शन में स्थिर हो जाओ संसार आपके लिए खत्म कुछ नहीं कीजिएगा क्षीणे पुण्य रहित फलावेश संसारम न प्रवते कारणाभावा क्योंकि फल आवेश अंदर बैठा हुआ है मैं ये कर्म करता हूँ और उसका फल मैं पाऊंगा ये जो हित फल आवेश हमारे अंदर है यही कारण है हमारे संसार के लोग जिस दिन इसको छोड़ दो या आग्रह को त्याग दिया जाए उसी दिन संसार से मुक्ति है फिर आपके लिए संसार नहीं रहेगा क्योंकि वो आवेश जैसे नशा उतर गया उसके बाद तो माँ को बेटी नहीं कहेगा माँ को माई कहेगा बेटी को बेटी कहेगा इसी प्रकार आवेश जैसे खत्म हो गई है भूत आवेश जो बना हुआ हमारे अंदर उस दिन हम समझ लेंगे ये क्या है वास्तव में सब मिथ्या दर्शन हो रहा है इसलिए कहते हैं उसको कैसे दूर करें फिर हुआ कैसे हेतु तो बना बनावेश ये सब पर विचार किया जाएगा सर्वम शाश्वतम नासिते वही सद्भावेन ह्यजम सर्व उच्छेद अविद्या के द्वारा होने वाले जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से सर्वम जायती उत्तम ये जगत उत्पन्न है ये कहा जाता है लेकिन तेना आविद्यक होने के कारण से ही शाश्वत नास्ति वही वह कोई नित्य वस्तु नहीं हो सकता क्योंकि वह के मिथ्या मिथ्याभूत है दृश्य मात्र है अतएव सद्भाव नहीं अजम सर्वम परमा दृष्टि से तो सब कुछ अजन्म आत्मा ही है सत मने दृष्टिया सत मने परमार्थ भाव के द्वार दृष्टि से अजम सब कुछ क्या है सर्वम अजमेवा उच्छेद स्थिर नास्तिक है अतः किसी का उच्छेद होने का कोई मामला ही नहीं कहने के लिए संसार उच्छेद हो गया वो आपके अज्ञान दृष्टिकोण से ही बोला जा रहा है क्योंकि तो जिस अज्ञान दृष्टिकोण से संसार से बंधन था उसी अज्ञान दृष्टिकोण से कहते संसार से आपकी मुक्ति हो गई वास्तव में संसार को उच्छेद वगैरह होने वाला कुछ है ही नहीं और हमारा दृष्टिया जगत जब है ही नहीं तो उच्छेद किसा करोगे आप जो हो विद्यमान वस्तु का उच्छेद हो सकता है जो अविद्यमान वस्तु है अविद्या के उसका उच्छेद का प्रसंग ही नहीं है इस रज्जू मैं देखा सर्व का किसी उच्छेद नहीं करता मैं तलवार से कहा थोड़े देगा सर्व को मार डालेगा क्या रज्जू को चांग लिया इसलिए आपने कहा जा रहा सर्प इसका उच्छेद हो गया ये सर्प आपके लिए मर गया लेकिन वास्तव में न मरा न तो कोई छेद है केवल अधिष्ठान का ज्ञान मात्र से ही यह व्यवहार हो जाता है कि सर्प का उच्छेद हो गया सर्प नष्ट हो गया ऐसे व्यवहार मात्र होता है अतः वास्तविक कोई उच्छेद नहीं क्योंकि वास्तविक तत्व की स्थिति ही उत्पत्ति स्थिति जब है नहीं तो उच्छेद भी वास्तविक नहीं हो सकता कोई शाश्वत वास्तविक तत्व इस तरह का है नहीं किंतु अधिष्ठान से अभिन्न होने के नाते कहा जाता है सर्वम अजम में वही भी क्यों कह रहे हैं फिर जगत को अज भी कह रहे हो शाश्वत नहीं भी कहते हो एक तरह कह रहे शाश्वतम नास्ती दूसरी तरफ सर्वम अजम इसलिए कहा जा रहा है ये जो आविद्यक दृश्य है वो अधिष्ठान से अभिन्न रूप में नहीं प्रतीत होता है अधिष्ठान अभिन्न होकर के ही अधिष्ठान में ही है जो अधिष्ठान तो आत्मा में परिकल्पित होने से उसका परिकल्पित जो दृश्यमान परिदृश्यमान जगत है वो अधिष्ठान को त्याग कर नहीं रहता उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है अत तद अभेद करता हुआ कथन किया जाता है सर्वम अदम सर्वम कलविदम परम इत्यादि जो चांद विश्व आदि में जैसे कहा गया है मनो अजाद आत्मनो अन्य नास्त्य सब कथम हेतु फल संसार से उत्पत्ति विनाश थे पूर्व पक्षी पूछता है जब अज आत्मा से आपके कथन के अनुसार कोई चीज उत्पन्न ही नहीं हुआ अन्य नास्त्य कथम हेतु फल हो संसार से जो उत्पत्ति विनाश उच्चेते फिर हेतु तो फलात्मक यह संसार की उत्पत्ति और विनाश का भी कथन श्रुतियों में क्यों कहा गया यदि इनका जवाब पहले दे चुके हैं तो ये सब बुद्धि का आरोह कराने के लिए है आरोहार्थ में पहले बोल चुके हैं फिर भी शंका हुआ दोबारा और जवाब दे रहे हैं उसका भी देखो है तो या सुनो आपने ऐसे कैसे कर और विनाश के बारे में उपदेशनो ये व्यावहारिक दृष्टिकोण से कहा जाता है उत्पत्ति और विनाश वास्तविक न उत्पत्ति न विनाश है समरणम समृद्धि अविद्या विषय लौकिको व्यवहार तया समृत्या जायते सर्वम समृत्य में संवरणम समृद्धि समृत्य में समृत्य को कार्य कर लेने हैं टिप्पणी बता रहा है अच्छा, धर्म इति चाहते ना कार्यक्रम अगली कार्यक्रम में जो इति आएगा तो यहाँ पर एक नंबर जो देव काट देना भाज इति है ना ऊपर में कारिका में एक नंबर है वो सही है भाष्य में एक नंबर गलत शिनु के बाद समृतिया के ऊपर एक नंबर जो दिया टिप्पण संख्या वो ठीक नहीं नहीं है तब तो ठीक है संवरणाम समृद्धि अविद्या विषय समृद्धि का अर्थ है वही अविद्यावाचक समृद्धि शब्द है ये बौद्धों का प्रसिद्ध शब्द अविद्या के लिए बौद्ध लोग समृद्धि शब्द प्रयोग करते हैं तो समृद्धि अविद्या विषय लौकिको व्यवहार लौकिक व्यवहार है समृद्धि आ जाए उसी लौक व्यवहार के द्वारा कहा जाता है कि जगत की उत्पत्ति है सर्वम तेना विद्या विषय शाश्वत नित्यम नास्ती वही इसीलिए सर्वम में जो संपूर्ण दृश्यात्मक तो जगत है व्यवहार मात्र जन्म आदि है शाश्वतम नित्यम कोई वस्तु नास्ती वही अत उत्पत्ति विनाश रक्षण संसार आयतिक पिछते इसलिए पूर्व में कहा गया था उत्पत्ति विनाश रूप जो संसार का विस्तार अविद्या के अज्ञान की वजह से होता है ये पहले कहा गया था अभी अपने पूर्व कार्यक्रम पढ़ा था ना यावत देतु फलावेश संसार आयत जब तक हेतु फलावेश है अविद्या के कारण हेतु फलावेश जब तक बना रहेगा तावत पर संसार का विस्तार होते रहता है परमार्थ सद्भाव तो अजम सर्वम आते परमार्थ सद्भाव दृष्टि विचार करके देखो अयम सर्वम आत्मा सब कुछ आत्मा ही है जो कुछ भी है जरूर अजय अज से अभिन्न होकर जैसा दिखाई पड़ता अनुभव में आता है सद्भावन आत्मत्व आत्म दृष्टिया परमार्थ दृष्टिया अतो जात्यादि अभाव जातीय उत्पत्ति आदि का अभाव होने से उच्छेद नास्ते वही इसी कारण से उच्छेद भी नहीं माना जा सकता कच्चित हेतु फलादय है किसी प्रकार के तो फलादियों का उत्पत्ति या उच्छेद व्यवहार नहीं हो सकता है ये भी आत्मा अन्य धर्म आ जयंती कल्पयते जो लोग कहते हैं आत्मा से भिन्न धर्म उत्पन्न हुआ करता है उनके लिए जवाब दिया जा रहा है इस कारिका से धर्म जायंदे जायंते तेरा तत्व जन्म मायोपम तेषाम साच माया न विद्यते ये धर्म जायंते इति उच्चनते तेन तत्व से जायते जिन्ना आत्मा से भिन्न जगत के गड़बड़ारी विषयों के अनाथ वस्तुओं की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है श्रुति स्मृतियों में वास्तव